कपितोति बोल संभारी कवन सुरारी नाम जनक कर भाई जय नाते मानिए निदाई अंगद नाम पानी कर देता भई बेटा अंगद वचन सुनत सकुचाना रहा मैं जाना अंगद कहीं बाल कर बालक उपजहु बंशे नल कुल धालक गर्भ न गय व्यर्थ तुम जाय निज मुखता तापस दूत गाय अब कहु कुशल बालिकाई बिहस बचन तदयंगद काली दिन दस गए बाली पहचाई दूध कुशल सखाउर लाई राम विरोध कुशल जस हो तो सब तो सुनाई सोई सुन सक भेद होई मन ताके श्री रघुवीर हृदय नहीं जाते हम कुल पालत सत्य तुम कुल पालत दस शीत हम बहु बधिर नयस कहीं नयन कान सब बीस सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय अब देखो जब रावण ने ये सुना कि ऐसे करके चिंता मुंह में दाप करके सब कुछ करके जा करके भगवान श्री जी ट्राई ट्राई बोलो जा करके हमारी रक्षा करो रक्षा करो तो क्रोध आ गया अब आगे अंदर को बोलने नहीं दिया कुछ कहीं रावण बोल पड़ा कहते हे कपूत बोल संभारी कभी पोत के माने है बंदर के बच्चे हे बंदर के बच्चे तो संभाल करके वो ये अनुवाद हुआ उसने हाँ? इसके माने क्या कि माने रावण को क्रोध आ गया उसकी बात के मन बच्चा के संभाल करके बोल संभाल करके बोल तो एक राजा के सामने हमारे शक्तिशाली व्यक्ति के सामने तुम बोल रहे हो तुम तो समझते नहीं मैं कौन हूँ कहाँ कैसे बोला जाता है कुछ बोलने की हिम्मत करनी चाहिए तो संभाल करने तो, कहते हैं न जान मोही सुरारी ये मूड तो ये नहीं जानता कि मैं सुरारी जैसे भगवान मुरारी है असुरारी है कैसे रावण कहता है सुरारी सुर के मन देवता जितने देवता हैं उनका मैं विरोध तो इसको इस बात का अभिमान कि मैं देवताओं का विरोधी अब जो देवता का विरोधी होगा वो कैसा होगा सुर का विरोधी होगा तो कैसा होगा असुर होगा कि नहीं होगा वो अपने आप कहता है कि मैं असुर श्रोमणी सब असुरों में बबान हाँ और वो असुर समझता है असुर बहुत अच्छी बात है ये देवता देवता सब बहुत कमजोर हुआ करते हैं ये सब दिल दिल दिल ऐसी करते हैं इनकी ताकत ताकत कुछ होती नहीं है क्षमा दया वगैरह जानते हैं इसके आगे कुछ जानते नहीं है इसलिए देवता बिल्कुल बेकार बुद्ध फॉर्म जो अपने आप को देखता है तुम्हें तो कितना शक्तिशाली हो कितना दर्द है मुझमें कितना पास मारे में लोग मुझसे करते हैं ये वो अपने आप की महानता को मानता जितना लोग करे उतना इनमें श्रेष्ठ भयभीत होना चाहिए हमको देख करके ये व्यक्ति की महानता का लक्षण रावण समझता है तो कहता मूर्ण न जाने मोई सुरारी मैं तो समस्त देवताओं का शत्रु हूँ इस बात को नहीं तो जानते बहुत नाम जनक करवाए और पूछता है कि तुम अपने पिता का नाम तो बताओ ये तुमने कहा कि हम हमारे पिता की और तुम्हारी मित्रता की तो हमारा कौन मित्र था तुम्हारा पिता कौन है अब देखो ये भटला रहा है उसको रावण जानता सब समझ गया सब लेकिन तुम्हें पूछता है तो ये आगे की बात रावण से पता चलती रावण जानता भी छिपाता है तो ये छपाना जो है ये भी एक प्रकार से मिथ्या बात मिथ्या वचन वो बोलता कहो मुझे नाम जनक कर भाई कि तो अपने पिता का नाम बताओ तुम कौन हो और कई नाते मानिए मिताई और तुम्हारे कौन पिता है किस नाते को मित्रता मानते हो <coughs> तुम्हारे पिता से हमारी मित्रता किस कारण से क्या बात है कैसे मित्रता होगी <coughs> मैंने रावण जी कहता कि हम किसी मित्रता नहीं करते हम तो मित्रता हमारी बस इसी बात की है ना दुनिया भर के सब कुछ जीते हुए सब मेरे हाथ में अधिकार में है तो वो सब लोग मुझसे मित्रता माने तो माने मैं किसी से मित्रता नहीं मानता सब मेरे अधीन है गुरु तो कहता है मैं तुम वो तुम मित्रता मानते हो तो किस काम से मानते हो अंगद नाम बाद कर बेटा अब अंगद कहता है कि मेरा नाम है अंगद और मैं पाली का पुत्र हूँ मेरे पिता का नाम पाली अब समझ में आया तुम्हारे हम्म? मानो रावण को समझ जाना चाहिए अंगद ने आप से बता दिया साफ साफ नाम अभी तक नाम नहीं बताया था अंगद ने अपना नाम बता दिया अपने पिता का भी नाम बता दिया फिर अंगद पूछता है कि ताता कहो भाई बेटा हा? उससे बाल से तुम्हारी कभी भेंट हुई थी माने अब अंदर याद दिलाना चाहते सीधी सीधी नहीं कहते कि तुम बाली के बगल में दबे रहे ये कहते तुम्हारा कभी उनसे तुम मिले हो नहीं मिले तुम तो याद तुम्हें कुछ पड़ता है कि नहीं याद पड़ता है ऐसे अंगत उनसे पूछते है तो जब अंगत ने ये पूछा तो कहते अंगत तो वचन सुनत तो सब जाना तो अंगत की ये बात सुन करके वो संकोच में पड़ गया संकोच पर अब याद आ गया उसे याद आ गया कि अखबार के बदल दबे रहे उसी की याद दिला रहा है अंगत तो अब ब्राह्मण उस बात को नहीं स्वीकार करता है कि हाँ तुम्हारा पिता बड़ा शक्तिशाली था और हम उसकी बगल में दबे रहे ब्रह्मा जी ने मित्रता करा दी थी ये तो नहीं कहता ये कहता कि रहा पानी पानन में जाना मैंने सुना था कि एक पानन पानन बाली नाम का एक बानर था मुझे मालूम है बस हम्म। अब देखो कितनी बातों को जब वो अपनी हिंसा के कारण सब बातों को उसने भुला दिया उसको याद नहीं करता है सब नहीं कहता कि हाँ हम कभी गए थे बाली के पास मेरे से क्या हुआ ऐसे उत्तर देता रहा बाली मानव में जाना मुझे मालूम है कि बाली की एक मानव था कहते हैं फिर फिर अब वो अंगद को रावण अपनी राजनीति लगाता है और अंगद की बुद्धि को फेरने की कोशिश करता है बुद्धि भी लगाया है रावण अब रावण की बुद्धि क्या काम करके कहता है अंगद कहीं बाल कर बालक अरे अंगद तुम ही बाल के पुत्र हो माने अंगद तो कभी मिला नहीं था रावण को तो रावण नहीं पहचानता था लेकिन नाम सुना था उसने कि भाली है बाल का एक पुत्र अंगद है और बाल का एक भाई सुग्रीव है ये सब उसने सुना हुआ था सुना हुआ था गया था देखा हुआ जाना हुआ तो सब था लेकिन अब कहता है कि अंगद क्या तुम्हें बाल के पुत्र बारे कहा बाजे और कहा तुम दोनों में बहुत अंतर हो गया क्या हुआ कि बाल तो बड़ा शक्तिशाली था और तुम ऐसे पैदा हुए ऐसे निकृष्ट बड़े दुर्बल तुम्हें कुछ है ही नहीं तुम्हारे अंदर खोखले आदमी ऐसा लगता है कैसे क्या बात हो गई कि उपजे उबंस अनल कुल घालक तुमको अपने वंश में जो है वो अपने वंश का नाश करने के लिए तुम पैदा हुए और नाप डुबाने के लिए सबकी वंश की नाश डुबाने के लिए तुम जरूर पैदा हुए तुम बड़ा अब अंगद कहता है रावण से कि तुमने बड़ा गलत कार्य किया सीताकरण करके अंगद रावण अंगद को समझाता है तुमने बड़ा नीच काम किया ये तो तुम्हारे वंश के अनुकूल नहीं है कि तुम किसी के दूध बन करके दूध दूध बनने का काम करो एक राजा का पुत्र युवराज राजपुत्र किसी का दूध बनने का काम करे ये तो उसके जो है मर्यादा के विपरीत उसकी <clears throat> जो उसका गौरव उसके विपरीत बात है तो तुमने तो अपने कुल की नाम दो उपजे वंश अनल कुल घालक तुम तो अपने <clears throat> अनल अपने वंश में तुम अग्नि की तरह पैदा हुए जैसे बांस में अग्नि छुआ दो तो अब बांस जल जाए किसी प्रकार से तुम अपने वंश में ऐसे पैदा हुए कि तुम्हारे के कारण से <clears throat> तुम्हारा वंश ही नाश और फिर उसकी निंदा करते हुए कैसे कहता है प्रकार से ऐसे देता है कि गर्भ न गए हो गर्भ तुम जाए हो तुम्हारी माँ का तो गर्भ गिर जाना चाहिए तुम पैदा नहीं होते तुम पैदा होकर के तुमने अपने वंश को डुबो दिया तुमने इतना खराब काम किया क्या काम खराब किया कि निज मुख तापस दूध कहा हो तो मेरे तपस्वियों के दूध बन करके तुम घूम रहे बनवासी तपस्वी जो है उनके तुम दूध बने घूमते हो और अपने मुंह से कहते हो कि हम उनके दूध हैं मुख माने कोई दूसरा तुम्हें तो शर्म आने चाहिए तो अपने मुंह से कहने में कि मैं इनके तपस्वियों को मैं दूर हूँ तो ऐसा तुमने नीच काम तुम कर रहा है अब रावण उससे पूछता है अंगद से कि अब कहू कुशल बाल कहाँ आई कि जरा ये तो बताओ कि बाल की कुशलता बताओ माने तुमको ऐसा नीच काम करना पड़ा और इस प्रकार के इनके तपस्वियों के दूध बने घूमते हो तुम्हारे पिता को क्या हो गया अब हम्म। मैंने उसको यज्ञ ब्राह्मण जानता है कि पारी मारा गया है और भगवान राम ने उसको मारा है अभी जैसा बताया हनुमान जी ने भी बता दिया था और वैसे उसे अपने दूतों से भी मालूम हो गया होगा कोई बात सीधी नहीं है लेकिन अंगद को चढ़ाने के लिए और उसको नीचा नीचा दिखाने के लिए अंगद के ही मुंह से कहलाना चाहता है कि भगवान राम ने रावण को मार दिया हम और हम उन्हीं के दूध ये कहलाना चाहता है इसलिए कहता अब बहुत कुशल बालू कहा दिवस बचन तब अंगद कहा तब अंगद हंस करके अंगद वो रावण से कहने लगा तो रावण समझता था कि अंगद इतने में समा जाएगा हाँ? तो जैसे अंगद फरमाता नहीं है अंजक हंस करके अंजक रावण से कहता है कि दिन तो रह गए बाली जहाँ जाई कि अब तो बाली तो वहाँ पहुँच गया है जहाँ दस पाँच दिन के बाद तुम्हें भी वहाँ जाना पड़ेगा हम्म। और जब वहाँ पर मिले एक स्थान पर तुम्हें वो जब मिले तब मुझे कुशल सखा और लाई तब तुम अपने मित्र को अपने छाती से लगाना और फिर उससे उसकी कुशल हाल चाल पूछ लेना कि भाई तुम्हारे क्या हाल चाल है <coughs> ये वहाँ पूछ माने कि बाली मारा गया स्वर्ग से धार गया अब भी तुम भी मरोगे तो मरने के बाद वही गति तुम्हारी भी होगी तुम भी वही पहुंच जाओगे जहाँ बाली जब भगवान ने मैंने दोनों की गति एक ही जैसे होगी जैसे बालू को मारा जैसे भगवान के बाल में बालू को मारा तो पानी जहाँ गया वही भगवान राम का पान तुम्हारे भी लगेगा तो तुम कहाँ जाओगे वहीं जाओगे जहाँ पानी गया था दोनों आपस में वहां मिलोगे और मिल करके तुम अपने पूछ लेना कर वहीं जाते <clears throat> ये बात देखो वैसे करके है जब जटायु भी था वो जब प्राण छोड़ने लगा तब भगवान राम जटायु से बोले कि तुम तो शरीर छोड़ करके स्वर्ग जा रहे हो वहाँ स्वर्ग में हमारे पिता दशरथ जी तो उनसे जाकर के तुम अभी ये मत बताना हाँ? कि सीता जी का हरण हो गया हाँ? तो सीता जी का हरण सुन करके महाराज दशरथ को दुख होगा हाँ? तो मत बताना फिर तो ये बात कब तक छिपी रहेगी क्योंकि थोड़े दिन के बाद में रावण आकर के खुद बता देगा आकर के महाराज दशरथ वहाँ तो भगवान राम ने कहा था कि वो मरेगा जाकर तो वहीं पहुंचेगा ये सब एक ही जगह सब इकट्ठे होने वाले हैं मर <laughs> तो कहा कि जब राम हो जाएगा तो महाराज दशरथ तो को बता देगा कि हमें हम सीता जी का हल कर लाए तब तो तक तुम्हारे पुत्र ने हमको मार दिया तो उसके वजह से हम यहाँ आ गए तो ऐसे करके यहाँ पर भी ये बात होती है अंदर कहता है कि वो तो भगवान राम ने जिसको मारा उसको बारी को तो उसे हार गया उसको दस पांच दिन में तुम भी वही पहुंच जाओगे तो उसकी कुशल तुम स्वयं पूछ लेना हमारे थ्रू क्या पूछा है डायरेक्ट तुम मिलोगे बहुत जल्दी और कुशल समाचार तुम्हें मिल जाए अब देखो अंजब का ऊपर भी कितना अंजब को ये अपने पिता के मरने का उसे दुख हो या उसे भेंट लगे जैसा रावण करना चाहता है तो रावण की जितना वचन और जो जितने की भाव है विचार करने का तरीका है वो लौकिक है इसलिए रावण समझता है कि जब हम इस प्रकार से कहेंगे तो वो अंगत का बालिका पुत्र अंगत होने के कारण से अपने पिता की मृत्यु के कारण से मारने की बात जब सामने आएगी तब इसको ये है अपने शरण लगेगी अंगत को लेकिन अंदर तो इन सब बातों से ऊपर उठ गया है भगवान की सेवा में आ गया शरण में आ गया उसके अंदर आध्यात्मिक चेतना जागृत हुई है अब ऐसे भक्ति थोड़ी भगवान की आ गई है तो <clears throat> वो इस बात से नहीं कि बालिका पुत्र है ये बात तो पीछे की बात हो गई प्रथम बात तो ये हो गई कि भगवान उसके स्वामी है भगवान राम और वो उनका सेवक है मुख्य बात तो ये हो गई इसलिए उसको इस बात का लज्जा नहीं लगती कि भगवान राम ने बाली को मार दिया बल्कि अंदर ये समझता है कि जब भगवान राम का विरोध करेगा जैसे बालिका हुआ उसका किसी का भी हो सकता है यही दशा जो भगवान राम का विरोध करेगा उसकी यही दशा होगी और हुई तो ठीक ही होगी चाहे अपना बाप हो कोई भी हो मैंने अध्यात्म विद्या ये कहती है अध्यात्म विद्या तो बिल्कुल मैथमेटिकल है उसमें कहीं भाव की स्थान नहीं है जो बिल्कुल बात है बिल्कुल साफ खड़ी बात चाहे बाप हो चाहे माँ बाप हो चाहे कोई हो चाहे मित्र हो चाहे कोई वो सब एक तरफ किनारे है परमात्मा का संबंध पहले मुख्य है परमात्मा उससे संबंध पहला बाकी सारे संबंध बात के नाते समय राम से मन में सोए सुते जहाँ तक अगर नाते हैं भगवान राम के नाते सब नाते नहीं तो भगवान राम से जिसका नाता नहीं उससे कोई नाता नहीं बेकार का नाता क्या ये सिद्धांत है आध्यात्मिक का और बाल का संबंध भगवान राम को छोड़ते करके नहीं ये अंगद की बात समझ में आ जाती है इसलिए राम विरोध कुशल जस हुई कि राम का विरोधी की जैसी कुशलता होती जब अपने बाप के लिए साफ कहता हो समझे तो उसने भगवान राम का विरोध किया तो जैसी जैसे उसकी हुई शक्ति होती इसी प्रकार को होनी चाहिए कोई भी हो चाहे बाप हो चाहे भाई हो <clears throat> सो सब तो सुनाइए सोई और जब तुम वहाँ पर मिलोगे तब वो पाली तुमको सब सुना देगा कि भगवान राम का विरोध हुआ तो कैसे भगवान राम ने मुझे मारा तुम भी बता देना कि मैं सीता जी का हम कर लाया था तो हमको उसी साथ हमको भी मारा भगवान राम तुम दोनों एक ही घाट उतरोगे उसे एक ही तरह प्राप्त होगे तो सुन सके थे जो हो ही मन पाते श्री रघुवीर हृदय नहीं जाते भेद के ऊपर जगत ध्यान दीजिए ये बात समझ गए कि रावण जो है यहाँ भेद नीति अपना रहा है साम दाम भय भेद ये जो है उसके राजा के चार अस्त्र होते हैं युक्तियों के तरीके के तो भेद के माने ये है कि अपनी तरफ मिलाओ और उसको फोड़ो फोड़ना ये भेद चलाता है तो मैंने शत्रु के पक्ष के व्यक्तियों को फोड़ करके अपने पक्ष में कर दो बाबू अंजन कह रहा है कि तुम ये समझते हो कि हम उनके भगवान राम के पक्ष से छोड़ करके तुम चाहो कि अपने आप में मुझे मिलाना चाहो हम ये कहते हैं कि हाँ बड़ी खराब बात हुई हमारे राम ने तो हमारे पिता को मार दिया तो हम तुम्हारी शरण में आ गए हैं अब हम तुम्हारी सहायता करेंगे तो हमारी सहायता करो हम भी राजा के पुत्र हैं तुम भी राजा हो और इस राम से बदला मुझे लेना है ये भाव हमारे अंदर में आ जाए ये बातें नहीं आने वाली है ये तुम्हारी राजाओं की राजनीति तुम्हारी हम सब तो अच्छी तरह जानते हैं ये मूर्खता की बातें हमारे ऊपर ये सब नहीं चलेंगी तुम्हारी ये बातें सुन सट सट कहते हैं देखो ये तो तुम्हारी सटता है तुम अगर ये भेद की बुद्धि हमारे साथ अपनाना चाहते युक्ति लगाना चाहते हो तो तुम समझते नहीं हो किससे तुम बात कर रहे हो सुनो सट भेद हो ही मनता के इस प्रकार के भेद मन में भेद उत्पन्न करने की बात तो उसी को हो सकती है श्री रघुवीर हृदय नहीं जाती ये बात जिसके हृदय में भगवान जिसके हृदय में नहीं होंगे उसको अंदर तो तुम भेद उत्पन्न कर सकते हो लेकिन अंदर से कहना है कि अब हम भगवान की शरण में है और भगवान हमारे सबसे ऊपर उनका हाथ है इसलिए ये इस प्रकार का भेद भेद हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हो सकता माने शास्त्र ये कहना चाहता है कि आप विभाग समाज में बहुत लोग <clears throat> ऐसा हो सकता है कि आप अध्यात्म के क्षेत्र में भगवान का भजन करते हैं पूजन करते हैं लोक सेवा के कार्य में लगे हुए हैं संसारी लोग जो है वो कह सकते हैं आपसे कि क्या बेवकूफी वाला काम कर रहे हो ऐसे काम कोई करता है जैसा तुम के हो बर्बाद करते हो राम राम करते हो क्या भरा हुआ है हाँ? ये सब पुरानी पुरानी किताबें हजारों पर तीन किताबें उनके पन्ने पलटने में क्या रखा हुआ है ये कह सकते हैं जहाँ समय अपना नष्ट करते हो सेवा अधिकार में लगे हुए बेकार को तो ये क्या है ये लोगों का संसारी व्यक्तियों की वो बुद्धि है जो भेद पैदा करना चाहते हैं अगर हृदय में परमात्मा की भक्ति नहीं आई परमात्मा ज्ञान नहीं हुआ तो व्यक्ति कहने लगे हाँ कहते तो व्यक्ति तो में काम से गलती हो गई अब हम ऐसा नहीं करेंगे हम भी तुम्हारी तरह से वही संसारी कामों में उन व्यक्तों में पड़ेंगे यदि आने लगे तो उनकी यहाँ गलती होगी लेकिन ये कहते हैं जिसके के मन में ये पता होगा कि अध्यात्म क्या ही सर्वश्रेष्ठ है परमात्मा ही सर्व महान है और उसका ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के समान दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं सर्वश्रेष्ठ वही व्यक्ति है और जिनको ये पक्का है इस बात में बात बनी हुई है सब ऐसे संसारी व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति मूर्ख व्यक्तियों के सद व्यक्तियों की इस प्रकार की बातें जो लौकिक बातें करते हैं लोगों को भड़काने की बातें करते हैं वो कारगर उनके ऊपर नहीं होते में सभी जितने के हमारे व्यवहारिक जीवन में जो समस्याएं आती हैं जो परिस्थितियां आती हैं उनका सबका समाधान है देखो तो पता चलता है शास्त्र देखो किस किस प्रकार शास्त्र बड़ा प्रबल है उसके समान शक्ति युक्ति विचार ज्ञान संसारी लोगों में कहा रखा हुआ है जो विश्व में लिप्त है भौतिक जीवन पशुओं के जैसा जीवन जी रहे हैं उनकी बुद्धि भी कितनी तो इस प्रकार कहते सुन सके भेद हो भी मन ताके श्री रघुवीर हृदय में जाते और जब कहता है कि हम कुल घालक सत्य तुम तो कुल पालक सत्य वाह अंदर कहते वाह क्या कह रहे हैं कि हम अपने कुल के घालक हो गए हमको तो तुमने बता दिया आपने वंश हमने अनंत की तरह से अग्नि की तरह से पैदा होकर के वंश के नाशक पैदा हो गए और तुम जो अपने कुल के पालक हो ये बड़ी विचित्र बात तुमने कही अनुकूल घालक और सत्य को कहते बिल्कुल सत्य सत्य के माने यहाँ ये उल्टी बात ये माने ये बिल्कुल असत्य बात है कहने का तरीका ये बोलने का ये बिल्कुल तुम सही बात कहते हो कि हम तो अपने कुल के नाशक है तुम ही एक पैदा हुए जो अपने कुल को अपने बचाने वाले और रक्षा करने वाले हो तो आप देखेंगे कि अंजत का तो कुल एक बारी मरा बाकी उनके पुल में कोई मर मरा नहीं सुप्रीम भी रह गया अंदर भी बाकी बचा हुआ ये कोई मरने वाले नहीं है लेकिन रावण का कुल रावण तो रावण मरेगा और रावण का कुल वास्तव में सब ध्वस्त होगा इस बात की सूचना कहते हैं कि तुम तो बचने वाले नहीं हो और न तुम्हारा कुल बचने वाला है ऐसा भी नहीं कि तुम मर जाओ उसके बाद तुम्हारा कुल तो कोई बचे वो भी बचने वाला नहीं अब तुम देख लेना कि कुल का नाशक कौन है तुम हो क्या हमें जैसे अंधव बदर अख कहे नैन जैसी तुम बात कहते हो अगर कोई अंधा रह रहा हो तो भी ऐसी बातें नहीं कहेंगे जैसी तुम बातें कहते हो और तुम्हारे तो बीस बीस हैं बीस बीस कान है और फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आता ये अंगत की ओर से रावण की फटकार जाता है अंगत जो वो बोलता जाता है थोड़ा उनको रावण को डांटता जाता है लेकिन कोई ऐसी बात नहीं करता है रघुपते हृदयसुमदीये सत्यम वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भराम् मे कामादिदोषरहितम् कुरु मानसञ्च श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम